वीर्य कहा गया जब तक देह है तब तक द्वैतभाष होने पर भी विद्या से बाधित तो हो जाता है इसको बाधित अनुभूति कहते हैं बाधित तो होने पर भी सेल दिखता है किंतु मिथ्यात्म निश्चय हो जाता है न माम अभिभवितुम शक्नोति इति अवष्टम्भ वीर्यम द्वैताभास मुझे दबा नहीं सकता है ये दृढ़ निश्चय अवष्टम विश्वास ये तस्य अविनाश अमृतत्वम अविनाश अविनाशी वीर्य नित्य तत्कारण अबाध्यवाभिप्राएण उच्य उच्यते न स्वरूपाभाव अभिप्रायण उसको अमृतत्व नित्य कहते हैं वीर्य को विद्याकृत वीर्य को क्योंकि उसका जो कारण है विद्या ज्ञान उसका बाध नहीं होता है तत्कारण विद्या अबाध्यत्व अभिप्रायण उच्यते विद्या का बात नहीं होता है रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ सर्प ज्ञान का बाद हो जाता है नायम सर्प रज्जुयम इस ज्ञान के द्वारा किंतु ब्रह्म विद्या जो वीर्य का कारण विद्या है वो अबाध्य है उसका बाधक कोई दूसरा है नहीं श्रुति प्रमाण सबसे बलवती है अन्य कोई ज्ञान उसका ब्रह्म विद्या का बाधक नहीं है तो अबाध्यत्व अभिप्रायण विद्यो को नित्य कहते हैं न स्वरूप नाश अभिप्रायण इत्यर्थ स्वरूप तो ब्रह्म विद्या का नाश हो सकता है ब्रह्म विद्या जो अज्ञान का निवर्तक उसका तो नाश हो जाता है नाश हो जाने पर भी बाधित नहीं होता बाध होना और नाश होने में अंतर है स्वरूपतः तो नहीं क्योंकि वृत्ति के नाश से नाश माना जाता है प्रतिबोध पदस्य यौगिकम अर्थम व्याख्याय रूढ़ अभिप्रायण व्याचष्टे प्रतिबोध पद का यौगिक अर्थ है बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध व्याख्यान करके प्रसिद्धि पूरा लेकर के यौगिक अर्थ नहीं लेकर के पूरा प्रतिबोध शब्द का अर्थ इस अभिप्राय से व्याख्यान करते अथवा भाष्य में यहाँ तक हो गया था ना उसके पहले भाष्य में है न तो विद्या बाधक स्थिति विद्याजम अमृतम वीर्यम विद्या का कोई बाधक नहीं होने से विद्याजम वीर्यम अमृतम विद्याजम विद्याजम अमृतम वीर्यम विद्याजम वीर्यम अमृतम अविनाशी है क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं है अतः विद्या अमृतत्व निमित्त मात्रम भवति विद्या अमृतत्व निमित्त मात्रम अमृतत्व के लिए विद्या उत्पादक नहीं निमित्त मात्र उपादान कारण तक तो, नाश से कार्य नाश हो जाता है इसलिए अविद्या विद्या अमृतत्व का निमित्त है नहीं कि विद्या के निवृत्ति होने से अमृतत्व नहीं नाश हो जाएगा अमृतत्व विद्या ऐसा नहीं और अमृतत्व मोक्ष भी विद्या का विद्या से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं है विद्या से अज्ञान की निवृत्ति होने से मोक्ष स्वभावत तो है नायम आत्मा बल ही नैन लभ्य च अथर्वण मुंडक उपनिषद कहा ये भी बल है विद्याकृत बल अविद्या से अविद्या का तिरस्कार ये सामर्थ्य ऐसे नहीं होने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है लोके भी विद्याजमेव बलम अभिभवती न शरीरादि सामर्थ्यम यथा लोक में भी शरीरादि सामर्थ्य के अपेक्षा बुद्धिजन्य बल उसको अधिक होता है शरीर सामर्थ्य को दबा देता हस्ती को भी मनुष्य अपने बस में रख लेता है शरीर सामर्थ्य अधिक नहीं होने पर भी अथवा प्रतिबोध विदित मतमिति सकृदेव अशेष विपरीत निरस्त संस्कारेण स्वप्न प्रतिबोधवत यदि विदितम तदेव मतम ज्ञात भवति इति अथवा प्रतिबोध विदितम मतम जो मंत्र में आया उसका अर्थ प्रतिबोध विदित मतम इति प्रतीक लेकर के उसका अर्थ कहते हैं सकृदेव अशेष विपरीत निरस्त संस्कारेण अशेष अशेष विपरीत जितने विपरीत सब का निराश हो जाता है अशेष विपरीत विपरीत संस्कार सब निरस्त हो जाता है विपरीत विपरीत संस्कार विपरीत संस्कार कैसे निरस्त सारे विपरीत संस्कार निरस्त होने पर स्वप्न प्रतिबोधवत जैसे स्वप्न से जग जाता है स्वप्न वो जग जाता है इसी प्रकार हठात स्वप्न से जग जाता है इसी प्रकार स्वप्न प्रतिबोधवत विदितम एक बार ज्ञान हो जाता है सारे विपरीत संस्कार निरस्त होने से हठात ज्ञान हो जाता है तदेव मतम ज्ञातु ही सम्य ज्ञानम टीका में अशेषतया विपरीतो तो निरस्त संस्कार येन बोधेन स प्रतिबोध अशेषतया निरस्त विपरीत संस्कार विपरीत का संस्कार के साथ अन्य होगा अनात्म विषय के जितने संस्कार है सो पूरा निवृत्त हो जाता है ये न न ज्ञान होते ही सारे अनात्मा संस्कार सबका निराश हो जाता है तो प्रतिबोध युगपथ कृष्ण अविद्या तत्कार्य निवर्तक संपूर्ण अविद्या अविद्या का कार्य का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान सद्य मुक्ति हेतु यही प्रतिबोध विदितम सम्य ज्ञान और एक दूसरा अर्थ है भाष्य में अथवा गुरु उपदेश प्रतिबोध गुरु का उपदेश प्रतिबोध गुरु उपदेश प्रतिबोध इसमें सद्य मुक्ति हेतु था इसमें थोड़ा विलंब होगा उपदेशजन्य ज्ञान होगा दोनों में थोड़ा भेद हुआ गुरु उपदेश प्रतिबोध तेन वा विदितम मतम गुरु उपदेश विदितम मतम इति उभयत्र प्रयोग दर्शनात् इस प्रतिबोध का प्रयोग ऐसे दोनों में होता है प्रतिबोध शब्द प्रयोग अस्त उभयत सुप्त प्रतिबुद्धो गुरुना प्रतिबोधित इति सोया हुआ जग गया सुप्त प्रतिबुद्ध पूर्वम सुप्त प्रसाद प्रतिबुद्ध पहले सोया था अभी जग गया अतः पर गुरु ना प्रतिबोधित गुरु ने उसको जगाया ज्ञान कराया इसे प्रतिबोध शब्द का दोनों एक बार सुप्त प्रतिबुद्ध के समान ज्ञान हो जाना सपन से जग गया जैसे अतः गुरु ने ज्ञान किया ये दोनों प्रकार हो सकता है टीका में प्रतिबोध शब्द त्रेधा व्याख्यातस पहला तो बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध वो कहा गया और द्वितीय हो गया सुप्त प्रति स्वप्न प्रतिबोध के समान तृतीय हो गया गुरु उपदेश प्रतिबोध तीन प्रकार व्याख्यान करके तत्र आद्यम व्याख्यानम युक्तम इत्याह ऐसे अर्थ हो सकता है किसने किया किंतु पूर्वम तो यथार्थम उपदेश तीन प्रकार व्याख्यान में प्रथम व्याख्यान बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध विदितम प्रत्येक बोध प्रत्येक साक्षी रूप से ज्ञात सारे ज्ञान में अनुगत रूप से स्थित है अलग-अलग ज्ञान अलग-अलग विषय को लेकर के वृत्ति को लेकर के ज्ञान की उत्पत्ति नाश किंतु सारे बोध में वृत्ति में अनुगत रूप से स्थित वृत्ति का साक्षी वृत्ति का प्रकाशक रूप एक व्याप, व्यापक चेतन वही प्रतिबोध विदितम और वृत्ति का विषय हुए किंतु स्वयं प्रकाशमान नहीं स्वयं प्रकाश रूप है प्रकाश्य नहीं होता है तो अविषयत्व न बहुतम विदितम विषयत्व न विदितन हेता इदम अहम इति इदम तत् इत्यादि अहम ऐसे प्रतिबोध विदितम बोध के साक्षी रूप से विदित होता है वो सम्यक ज्ञान है गुरु उपदेश सत्यपि प्रतिबोधम व्यापक आत्मा अनुसंधान बिना अपरिचय अवगम असंभवात सद्यम उद्देश्य शास्त्रीयत्वादित्यर्थ इत्यर्थ गुरु उपदेश को जो प्रतिबोध किया गया गुरु ना प्रतिबोधित प्रतिरोध शब्द प्रयोग होता है ठीक है गुरु का उपदेश तो आवश्यक किंतु व्यापक आत्मा अनुसंधान के बिना खाली उपदेश मात्र से ज्ञान अपरिचित ज्ञान नहीं होता है व्यापक शुद्ध ब्रह्म ऐसे सारे प्रत्यय में व्याप्त रूप से आत्मा है व्यापक आत्मा है कहाँ सर्वत्र है सर्वत्र है तो कहाँ उसको उसकी अभिव्यक्ति होती सारे प्रत्यय में अभिव्यक्ति होती है तो व्यापक सारे प्रत्यय में व्यापक आत्मा है उसका अनुसंधान के बिना अपरिचित ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए गुरु उपदेश मात्र से प्रतिबोध अर्थ नहीं बोधम बोधम प्रतिसारे प्रत्यय का साक्षी रूप से विदित होता है वो तो ये सम्य ज्ञान है और जो स्वप्न व द्वितीय कहा था सद्य मुक्ति स्वप्न से जैसे जग गया पूरा अभी स्वप्न दृश्य से नष्ट हो गया इसी प्रकार ज्ञान एक साथ हो गया अविद्या तत्कार्य से नष्ट हो गया सद्य मुक्त हो गया यह जो सद्यमुक्ति पक्ष सद्यमुक्तेश्च अशास्त्रीयत्वाद शास्त्र प्रतिपाद्य नहीं शास्त्र में छांदोग्य उपनिषद आया तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्षे अथ संपत्ति ज्ञान होने के बाद इतने विलंब है जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है तो सद्य मुक्ति का तो ज्ञान होते ही मुक्त हो गया ऐसे जीवन मुक्त कहा गया ज्ञानी अपने दृष्टि से देह से अतिरिक्त हो गया देह भिन्न है अपने को अशरीर हो गया मुक्त हो गया उसको कहते जीवन मुक्त है और सद्य मुक्ति नहीं है एक साथ ज्ञान होते ही शरीर समाप्त हो जाए अविद्या कार्य साकल सब की निवृत्ति हो जाए ऐसा नहीं प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक शरीर रहता है इसलिए जो द्वितीय पक्ष था स्वप्न जैसे जग जाना सद्य मुक्ति वो भी शास्त्र तात्पर्य उसमें नहीं है क्योंकि ज्ञान का उपदेश करने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरु में समित समितपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश करेंगे उनके पास जाने के लिए श्रुति उपदेश करती है यदि ज्ञान होते ही अज्ञान कार्य कर्म सो नष्ट हो जाए शरीर भी समाप्त हो जाए तो फिर कोई उपदेश करने वाला ज्ञान ही नहीं होगा ज्ञान संपदा नहीं हो सकती इसलिए उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन भगवान भी कहते हैं तो ज्ञानी का शरीर ज्ञान होते ही नष्ट होता है ये पक्ष ठीक नहीं है रहता है उपदेश करते हैं नहीं पाठ बिना अपरिच्छा अवगम बिना व्यापक आत्मानुसंधान बिना अपरोक्षावगम असंभव अपरोक्ष अवग्रह चाहिए अपरोक्षावगम असंभव ऐसे पाठ इसमें थे पुराने में व्यापक आत्मानुसंधान के बिना अपरोक्ष अवगम असंभवात अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है अनुसंधान करना पड़ेगा उपदेश मात्र से परोक्ष जो हो गया अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है मानन निधि ध्यान के बिना चतुर्थ मंत्र समाप्त हुआ ये पंच है क्या हुआ छह क्या बोलो चतुर्थ मंत्र पारायण हुआ ना हाँ पंचम मंत्र है छत्तर पृष्ठ में है पंचम मंत्र उत्तर वाक्य से अपेक्षितम अर्थम आह आगे षष्ठ मंत्र में जो अर्थ अपेक्षित भगवान वासिकार पहले कहते हैं कष्टा खल सुर नर तिर्यक प्रेत आदिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायसु जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति अज्ञानाद अतः ये बड़े कष्ट है विचार नहीं करने से पता नहीं चलता है विचार करने पर आगे पीछे विचार करे पहले कहाँ हम थे जन्म के पहले कहाँ थे मरण अवश्य भावी है देखते हैं लोग मरते जाते हैं अपने मरण में होने वाला है उसके बाद क्या गति होगी कहाँ जाना है ये थोड़ा विचार करने से दूरदर्शिता दूर को देखना होता है आगे क्या होगा पशु पक्षियों का ऐसे विचार नहीं होता है पेट भर गया काले आराम किया पानी पीला प्यास पानी पी लिया काल को क्या खाना है ये चिंतन उसके लिए नहीं अकाले कहाँ जाएंगे मरने के बाद कहाँ जाना ये विचार नहीं जो मनुष्य होकर के भी ऐसे विचार नहीं करते हैं वो पशु पक्षी है जैसे हुआ आगे मरने के तो कहाँ जाना वो चिंता नहीं जैसे तब तो काफी कुछ लोग होते बस जन्म मिला खाओ पियो मौज करो मर जाओ फिर मरने के बाद फिर जो होगा होगा वो पशु के समान विचार करेंगे तो जाना कहाँ पड़ता है पुण्य पाप के कारण पुण्य कर्म करने से देवत्व को प्राप्त करते हैं कभी मनुष्य बनता है पुण्य पाप बराबर हो तो और पाप अधिक हो तो तिर्यक योनि पशु पक्षी और अधिक हो तो नरक तिर्यक प्रेत आदि प्रेत भूत प्रेत ही बन जाते हैं तो, तो सुर नर तिर्यक प्रेत आदि आदि से कोई नरक जाएगा कोई पशु पक्षी जलचर कितने प्रकार है चौरास लाख योनि संसार दुख बहुल सी संसार दुख अल्पने बहुत दुख भरा हुआ प्राणी निकायसु प्राणियों का समुदाय बहुत प्रकार प्राणी है अलग प्राणी के अंतर्गत अलग-अलग बहुत समूह निकाय समूह है प्राणी समुदाय में जन्म लेता है कभी किसी जन्म में जाता है जितने प्रकार जीव है किसी जीव योनि में जा सकता है मनुष्य पहले गया है कितने बार सब योनि में भटक भटक करके सब का अनुभव संस्कार भी है जिस जन्म में जाएगा उसके अनुसार फिर संस्कार उद्भव हो जाएगा बंदर बन जाएगा तो आगे पूछना पड़ता है माता को कैसे हम छलांग लगाएंगे <laughs> नहीं अपने आप छलांग लाना माता को पकड़ लेना छोटे बच्चे बंदर को देखो कैसे माता को पकड़ लेते हैं बंदर यहाँ से छलांग लगा के पेड़ से जोर अब बच्चे इसको पकड़ कर रखा है छोटे बच्चा ये मनुष्य इसे पकड़ सकता है <laughs> आदमी चले और बच्चा उसको पकड़ रखे ऐसा नहीं होता है आदमी उसको और तो पकड़ दें और बंदर है वो छलांग लगाते समय बंदर पकड़ के रख दिए तो ये सीख लेता है पक्षी उड़ने के लिए सारे जनि में संस्कार जितने अनुभव किया संस्कार रहता है फिर जहाँ जाता है उसके अनुसार संस्कार प्रकट हो जाता है ऐसे व्यवहार करता है और किस योनि में भटकते भटकते कभी मनुष्य जन्म प्राप्त किया और जन्म खाली जन्म शब्द से नहीं जन्म होने पर जन्म प्राप्त करने पर क्षुत पिपासा दुखत है रोग आदि है जरा वृद्धावस्था मरण रोग आदि संप्राप्ति दो तीन नाम ले लेते जन्म जरा व्याधि और मरण जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म तो वृद्धावस्था है और रोग आदि है और मरण जरा तो केवल वृद्धावस्था को तो कम उम्र में पता नहीं चलता है जो स्वयं वृद्धावस्था में ही चाहता है तभी पता चलता है ऐसे वृद्धों को देख करके विचार करे और चलने में बैठने में खड़े होने में कितने परेशानी खाली चलने के लिए भी लाठी चाहिए तो भी गिर पड़े इधर उधर एक पैर रख के दूसरे पैर रखते समय गिरने का भय गिर भी जाते हैं और वृद्धावस्था में गिर गया तो कम उम्र में गिर जाते हैं हाथ हड्डी में कोई कुछ टूट जाए तो भी जुड़ जाती है अब बड़े होने के बाद बड़े मुश्किल है चलने में बैठने में खड़े होने में सब में जरा और व्याधि तो सबको अनुभव है जितने मजबूत हो व्याधि रोग बुखार कुछ शरीर स्वास्थ्य खराब हो गया दो तीन चार दिन में गिर जाएगा लेट जाएगा उठ कड़ा हो नहीं पाएगा जितने मजबूत भी हो कोई मजबूत बताओ तीन दिन चार दिन साथ खराब हो गया तो बात नहीं कर पाया लेट गया ऐसे सामान्य बुखार से नहीं होता जोर हो जाए ऐसे हाँ, बहुत प्रकार बीमारी है ऐसे बीमार है तो एकदम लेकर ग्लूकोज चढ़ाओ जल्दी नहीं तो मर जाएगा व्याधि में ऐसे किस प्रकार और कोई व्याधि ऐसा है बस पता नहीं बिना खबर गया समाप्त आया कहे डॉक्टर बताया गया उसके हार्ट फेल हो गया बस इतने सुन करके परिवार लोग खुश हो जाएंगे हार्ट फेल हो गया <laughs> करेंगे क्या मर गया तो मर गया बस गया जरावस्था व्याधि में जो कष्ट है सब का अनुभव है और मरण में जो कष्ट होता है इतने कष्ट होता है मरण में सहस्र विच्छु दंशन बिच्छू बिच्छू है ना एक जनसन जिसको बिच्छू काटा वही जानता है अन्य लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे दवाई करते हैं कुछ भी करते हैं झाड़ फूंक जितने करेंगे 24 घंटा तो कष्ट भोगना पड़ता है डॉक्टर पे आज जो इंजेक्शन दे दें कुछ करेंगे तो कहते हैं फिर भी तो कष्ट रहता ही है और सहस्र हजार विषय को देखने पर भी मर जाएंगे मनुष्य एक विषय पास में आते काटता है तो सहस्र विषय दंशन इतने कष्ट होता है मृत्यु के समय इसलिए मरण से सब डरते हैं बहुत कष्ट होता है मर्म ग्रंथि से प्राण निकलता है सस्ते व्यक्ति कहीं मर जाता है तो हाथ पैर छिटका चटकाता है बहुत कष्ट होता है ये सब दुख बहुल सुख मिलता दुख मिलता सुख भी होता है किंतु सुख की अपेक्षा दुख बहुत अधिक है ये जरा दुख बहुल जन्म मरण जरा रोग आदि संप्राप्ति ये किससे हो, होती है अज्ञानाद स्वरूप के अज्ञान से अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से अज्ञान के कारण देहादि में अहम बुद्धि करता है पुण्य पाप कर्म करता है उसके फल भोगने के लिए जन्म प्राप्त करता है ये अज्ञान के कारण टीका में पहले मंत्र यह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति न चेद यावेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति यहाँ मनुष्य जन्म प्राप्त करके अधिकारी होकर के यदि हां जान लिया साक्षात्कार कर लिया अपने स्वरूप का यदि जा साक्षात्कार कर लिया तो अथ सत्यमस्ति तब सत्य है सार्थक है जन्म न चेदि हा वेदित महति विनष्टि यहाँ जानने के लिए सामर्थ्य है मनुष्य जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ यहाँ यदि अपने स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाया बड़ी हानि है बड़ी हानि है जिसका पूरा नहीं होगा फिर 84 लाख चक्कर में भटकेगा वही संसार में फिर चलेगा अनादिकाल से जन्म मरण संसार समुद्र में डूबा हुआ है के लव की जैसे कभी नीचे चलेगा कभी थोड़ा ऊपर ऐसे होकर के बहता रहता है अपने कोई कुछ नहीं चलता है हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे नहीं यहाँ तो कहते हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे ऐसे विचार करते हैं किंतु मरने के बाद कर्म कहाँ लेकर के जहाँ पहुंचेगा वहाँ जाना पड़ेगा जन्म यदि कहीं बर्फ में हो तो बर्फ में जन्म होगा पशु पक्षी पे पेड़ पौधे बना तो ठीक है नरक जाना पड़े कीड़े मकोड़े जहाँ कर्म लेगा वहाँ कोई अपना चलता नहीं और उसमें भटकना पड़ेगा फिर बस फिर कब मनुष्य जन्म मिला कोई ठिकाना नहीं ये महति विनष्ट इसलिए ये विचार करके अभी यही विचार मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ इसके पहले कितने भटके हुए कितने प्रकार भोग हुआ है अभी समय मिला परमात्मा प्राप्ति के लिए स्वरूप को जानने के लिए अपना स्वरूप का साक्षात्कार ये करना चाहिए कैसे इसलिए क्या करना है भूतेषु भूतेषु विचित धीरा भूतेषु भूतेषु सारे भूत में स्थित है प्रत्यक्ष आत्म तत्व सर्वत्र स्थित है उसको जान करके धीर विवेकी प्रत्यय अस्मालोकात अमृता भवति ध्यादि से अपने को पुस्तक समझ करके फिर अस्मालोकात अमृता भवंती और मरने के बाद भी विधेय कविल को प्राप्त करते अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो मुक्त हो जाते हैं जब तक तो साक्षात्कार नहीं होता है तो संसार में भटकते हैं जो साक्षात्कार हो गया तो बस हो गया सार्थक परिपूर्ण ब्रह्म आनंद रूप से रहता है मुक्त हो जाता है आनंद रूप से रहता है भाष्य में अत यही वचेत अवेदित यही यहीं चेत अवेदित चेत का यदि यदि कहते बड़े कोई जानता है मनुष्याणाम शास्त्रसु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानम कच्चिन मां कोई जानता है मनुष्य अधिकृत अधिकारी समर्थ है सन अधिकारी समर्थ होता हुआ भी यदि अवेदित किसको जान ले आत्मानम यथोत लक्षणम यथोत लक्षणम श्रोत्र से श्रोत्र मन का मन का एक तत्व है आत्म तत्व ब्रह्म वही आत्मा है वही अंदर रह करके सब को प्रकाश करता है वही बुद्धि का साक्षी है उसको जी जान लिया विदितवान यथोतेन प्रकारण यथोतेन प्रकारण वो कहा अन्य देवता विदिता तथा विदिता तद इस रूप से विदित अविदित सन्य अपने स्वरूप से अहम अस्मि यथोत प्रकार अहम अस्मि और बहुत साधना करके ध्यान में बैठा कुछ दृश्य देख लिया ब्रह्म को देख लिया वो नहीं कुछ देख लिया तो दृश्य सो मिथ्या है कुछ भी देखे दिखता है सुनाई पड़ता है तो मिथ्या है ध्यान में बैठते समय कभी कुछ रूप दिख जाए अच्छी बात है दिखता है तो किंतु उसको परमात्मा प्रकाश दिखा एकदम ज्योति प्रकाश हो गया तो आत्मा आलोक कोई कहता आत्मा आलोक देख लिया वो आलोक नहीं प्रकाश का अर्थ वहां आलोक नहीं है इसलिए ज्योति प्रकाश कुछ दिखे शब्द सुनाई पड़े कोई उसे महत्व बुद्धि नहीं दृश्य जितने ज्ञेय पदार्थ सो मिथ्या है अपना स्वरूप है साक्षात्कार अपने से भिन्न नहीं है किंतु अपना स्वरूप का जो साक्षात्कार है सब ब्रह्म ज्ञान अह जिसको अनुभव होगा वही जानेगा अपना स्वरूप का अनुभव कौन करेगा बुद्धि में केवल वृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से अपना स्वरूप स्वयं प्रकाश ब्रह्म है तो इसे यथोतन प्रकार कहा किस प्रकार ज्ञान होगा विदित अविदित से भिन्न अपने से भिन्न कुछ विदित कुछ अविदित विदित है ज्ञात अविदित अज्ञात अपने से भिन्न कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात उससे विलक्षण अपना स्वरूप जितने पदार्थ है सब से विलक्षण सब का निषेध करने पर एक ही तत्व है वही अद्वितीय ब्रह्म इस रूप से जी जान लिया यतत्वेन प्रकरण यह चेदि अविदिति अथ सत्यमस्ति अथ का तदा अस्ति सत्यम सते मनुष्य जन्मनि अस्मिन् अविनाशो अर्थवाता अर्थ अर्थवतावा वा परमार्थतावा वा सत्यम विद्यते अथ सत्यमस्ति सत्य का अर्थ किया मनुष्य जन्म में अविनाश अस्ति अविनाश विनाश नहीं नहीं तो विनाश नष्ट हो गया यदि जान नहीं जान पाया तो व्यर्थ हो गया नष्ट हो गया समाप्त हो गया कुछ नहीं अर्थवत सार्थक है मनुष्य जन्म में सार्थक तभी है ज्ञान हुआ तो सद्भाव हुआ साधु भाव वास्तव स्वरूप हुआ साधु हुआ परमार्थता परमार्थता वास्तविकता है ये सत्य है यदि ज्ञान हो गया ज्ञान नहीं हो और बाकी जितने भी हो जाए बहुत कुछ बड़े बहुत धन संपत्ति ख्याति बहुत सम सब हो सकता है संभव है ये सब बड़ी नहीं कुछ कुछ भी नहीं मर कर गया तो इसके साथ कोई संबंध नहीं है जो सम्राट था वो मर गया मर जाने के बाद वो सम्राट उसके प्रासाद धन संपत्ति राज्य का भोग करेगा मरने के बाद जब मैंने पाप कर्म किया तो नरक जाएगा वहां प्रासाद धन संपत्ति कोई काम देने वाला नहीं है पुण्य कर्म किया तो स्वर्ग में जाएगा फिर आएगा फिर जब आएगा उसी प्रासाद में आएगा क्या बड़े प्रासाद मकान बड़ा बना करके गया मर गया फिर जब जन्म लेगा आएगा उसमें हाँ कभी यदि आए तो गदा खचर बन कर आएगा यदि उसमें आने का होगा खचर बन कर पत्थर ढोने के लाएगा तो अच्छा है ना <laughs> नहीं तो चेंटी कीड़े मकोड़े बन कर रहेगा वो प्रासाद में आप जिस कमरे में रहते उसी कमरे में कितने जीव रहते मालूम है ये वर्षा के समय निकलेंगे चिंटी चिंटा कितने दिमाग कितने नीचे है और मच्छर तो ऊपर से है और जो दिखते नहीं कीड़े मकड़े बहुत है वो भी उन वो मकान उनका भी है वो आप तो अभी आकर रहते हैं और जो चिंटी चिंटा आदि है उनके पिता पितामह प्रपितामह कितने को पीढ़ी से उनका अधिकार है हमारा इतने पीढ़ी से अधिकार नहीं साधु आकर के कहाँ रहे थोड़े दिन के लिए किंतु वो जो रहते कीड़े मकड़े चिंटी चिंटा कितने पीढ़ी से उनके पिता पितामह प्रपितामह कितने पीढ़ी से उनका है और हम कहते हैं हमारा मकरा हमारा कमरा हमारा क्या कितने किस क्या इसलिए ये कुछ कोई लेकर नहीं जाता है सार्थक तो तभी है तभी यदि जान लिया ज्ञान तभी सार्थक नहीं तो कुछ नहीं है व्यर्थ है समझ जीवन मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ इसी के लिए केवल जिसके लिए आया वही काम करना चाहिए ये होता है बुद्धिमत्ता और जो रुपया लेकर गया कुछ करने के लिए जो लाना था उसको नहीं ला करके जो चीज घर में है वही एक दो बोरी ले आया सब्जी लाने के लिए गया अब रास्ता में देखा इतने दूर क्यों जाएंगे यहाँ मिलता है आटा एक बोरी ले आया घर में तो आटा रखी हुई और एक बोरी ले आया क्यों वो पास में मिलता है ले आया <laughs> नहीं तो ताज़ा मिलता है ले आया ऐसा नहीं जिसके लिए गया वही लाना होता है उसको बुद्धिमान कहते हैं आप किसको भेजो कुछ कर्म करने के लिए वो यदि वही कर्म करके आया तो बुद्धिमान वो नहीं करके दूसरा कुछ करके घूम फिर कर आया तो उसको धिक्कार करेंगे इसी प्रकार ये जो मनुष्य जन प्राप्त हुआ केवल परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए ये भोग करने के लिए तो पुण्य कर्म फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं वहाँ जैसे स्वर्ग में भोग होता है ऐसा भोग मनुष्य में नहीं होता है बहुत भोग करके आया यहाँ भोग करने के लिए नहीं पुण्य कर्म अधिक होता है स्वर्ग में जाते स्वर्ग में सुख भोगते दीर्घ काल रहते युवावस्था में हमें से जरावस्था वहाँ नहीं है वहां बूढ़ापा नहीं है हमेशा 30 साल उम्र जैसे बराबर प्रारंभ से अंतिम तक उनका उम्र 30 साल की जैसे बढ़ेगा नहीं वो 30 साल उम्र में जैसे युवा अवस्था है स्वर्ग में हमेशा ऐसे रहेंगे दस हजार बीस हजार के बाद भी जो समाप्त होगा समय ऐसे तीस अवस्था उम्र मतलब भोग करने के समर्थ है नहीं तो थोड़ा बड़ा होने पर दांत तो टूटेगा तो ना, नारियल नहीं खा पाएगा आंख से नहीं दिखेगा शब्द नहीं सुनना पड़ेगा सब लोग धिकार करेंगे किंतु वहाँ पूरा पूरा भोग करेंगे और जो भोग चाहिए इच्छा मात्र से सब प्राप्त हो जाएगा यहाँ से अधिक बहुत भोग है ऐसे भोग सब आप लोगों ने करके आए कोई नहीं सब लोगों ने भोग करके आए स्वर्ग में रह करके सब प्रकार यहाँ से अलग अलौकिक दिव्य भोग वहाँ वो भोग यहाँ नहीं मिलेगा ऐसे भोग करके आए भोग करके आने के बाद यहाँ आया जिस उद्देश्य उसको नहीं करके वो थोड़ा इधम में साथ इधम में साथ इकट्ठी करने लगा धन संपत्ति नाम ख्याति मकान बनाया सो करके गया रहने के पहले खत्म कोई के बनाते बहुत बड़े मकान उसके पहले खत्म बनाते हैं कोई साधु स्वयं नहीं रह पाते दूसरे लोग रहता है स्वयं क्या करेंगे इधर उधर जाओ फिर रुपया इकट्ठी करो तब उसकी उसकी देखभाल करने के उसकी सुरक्षा के लिए रुपया इकट्ठी करने के लिए बाहर घूमेंगे रहेगा कोई दूसरा अब मरने के बाद कोई संबंध नहीं इसलिए यही सार्थक है यह जे अविदित अथ सत्यम साक्षात्कार है वो तो सार्थक हो नहीं तो कोई कुछ यहाँ मनुष्य जन्म केवल इसके लिए और कुछ नहीं बाकी सब बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत भोग हो गया भोग करने का बहुत हो गया यहाँ ये भोग करने के लग गया फिर भोग करने तो भोगो अब भोग शब्द से केवल स्वर्ग भोग नहीं नरक भोग भी है पाप कर्म करेगा तो कहाँ जाएगा नरक जाएगा यहाँ भोग करने के लिए जो दूसरे को ठगना चाहता है दूसरे धन संपत्ति ले लेता है झूठ बोल करके उसको जाना पड़ेगा नीचे नहीं तो ऋण बनने के लिए ऋण मोचन करने के लिए उसके लिए घर बनाने के लिए पत्थर ढोने के लिए रूप दान करेगा क्या रूप दान करेगा हैं खचर बन जाएगा तो उसके लिए मकान बनाएगा अपने मकान बनाया था उसके रुपया ला करके अभी आगे जाने उसके लिए कुछ बनाने के लिए पत्थर ढोएगा इसी प्रकार है मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ आगे क्या होगा इसका विचार करके ज्ञान प्राप्त करना तभी जन्म सार्थक नचेदिहा विधि अर्थात सत्य का अर्थ किया टीका में अपि सत्यम अथ सत्यमस्ति लौकिकम सत्य होती लौकिकम अपि अनाथ सत्यम स्पृहार हाँ फल है लोक में भी चिरम जीवनम धनवत्वम धनवत्वे जीवन धनवत साधुभाव साधुभाव ख्याति लौकिकम अपि सत्य क्या है चिरम जीवनम लौकिक भी सत्य चिर दीर्घ जीवन होगा धनवत्व होगा ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सब धन उसका पास ने मृत्यु का मृत्यु को जीत लेता तो मृत्यु को जीत लिया तो चिरंजीवन हो गया उस धनवत्व हो गया ज्ञान हो गया तो सारे धन उसका है धनवत्व सद्भाव साधुभाव ख्याति ज्ञान हो गया तो भी ख्याति है एतदपि सर्व ब्रह्मविद भवति इति स्तुत्यर्थम उच्यते ये साधुभाव ख्याति धनवत्व ये सब भी उसको हो जाता है क्योंकि जितने जिसकी प्रशंसा करता है ज्ञानी देखता है मेरी ही प्रशंसा हो रही बैठा है कहीं गुफा में पूजा हो रही राजा महाराजा बड़े-बड़े मंडल से होगा वो ज्ञानी कैसे होता है मेरे से भिन्न की पूजा हो रही मैं मुझे कोई नहीं पूछता इसे सोता है मैं ही सर्वव्यापक हूँ जो पूजा हो रही मेरी पूजा हो रही अपने पास कुछ झोपड़ी भी नहीं रहने के पेड़ के नीचे रह करके ज्ञानी क्या समझता है बड़े-बड़े से मकान बनाते हो किसका है तो मेरा ही मैं ही सर्वत्र हूं तो कुछ प्राप्त नहीं होने पर भी सब अपने में अपनाइए वस्तु तो मकानों में कोई रहने के लिए बुलाएगा रख लेगा ये बात नहीं ये ज्ञान हो गया तो आप आइए हमारे मकान में रहिए ज्ञान हो गया तो दूसरे को दिखेगा क्या कि पेड़ के नीचे बैठा है भूखा रहा है यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाए सबको सिंह निकलेंगे न सर कुछ हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा क्या पता चला ज्ञान है और जिसको मालूम है सब लोग जानते पता हो जाता है प्रसिद्ध होता है प्रसिद्ध हो जाने पर ज्ञान हो जाता है क्या प्रसिद्धि तो बहुत हो जाती है चोर की भी प्रसिद्धि है बड़े-बड़े चोर बड़े प्रसिद्ध है उसको ज्ञानी है इसी प्रकार नाटक नाचने कूदने वाले भी बड़े प्रसिद्ध होते हैं ज्ञानी है साधु वेश बनकर कोई प्रसिद्ध हो गया बाद में पता चलता उसमें क्या-क्या है ये कोई जरूरी नहीं प्रसिद्धि से मोक्ष ये नहीं है इसलिए ये सब जो कहा गया लौक्यम में सत्यं धनवत्तम साधु ख्याति ये सब ब्रह्म ज्ञान को होता है जो क्या स्तुत्यर्थम उचित स्तुति के लिए और ज्ञानी सोता है सब मेरे मुझे प्राप्त है ख्याति जितने ज्ञानी हो चाहे तने अधिक ख्याति मुझे मिले जितने ख्याति सब मेरी है जितने धन संपत्ति हमारी है तो ज्ञानी चाहता है मुझे सब प्राप्त है जिसको साक्षात्कार हो जाता है कुछ अप्राप्त नहीं रहा सब प्राप्त हो इसलिए सद्धानवत्व साधुवा ख्याति ये भी सब कहते स्तुति के लिए स्तुति क्या है ज्ञान की स्तुति ज्ञान हो जाने पर वास्तव धन संपत्ति उसके पास आ गया भोजन अपने आप ही उसके पास उपस्थित हो जाएगा कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान होने के बाद मांगने के जा सकता है भोजन करने के लिए किसके द्वार में खड़ा होकर मांग सकता है ज्ञान होने के बाद सोचा ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर किसके द्वार में क्यों जाऊंगा ऐसा है वो अपने को नहीं सोता है ब्रह्म ज्ञान हो गया अब जैसे ब्रह्म मैं हूँ पहले था मैं हूँ शरीर जाता है तो क्या हो गया शरीर के प्रारब्ध के अनुसार जा सकता है मांगने के लिए शरीर वहां रह सकता है भूमि में लेट सकता है कुछ भी हो सकता है शरीर कोई जरूरी नहीं कि मांगने जाना चाहिए अथवा यहाँ बैठना चाहिए जो शरीर के स्थिति प्रारब्ध अधीन किंतु ज्ञानी अपने को परिपूर्ण और आप्त काम नित्य तृप्त मानता है इसलिए सारे जितने ख्याति साधुभाव दाना है थे सब ज्ञानी को प्राप्त है कहकर उसकी तुति है परमार्थ तो ब्रह्म रूप स्थितिस्तु फलम अवश्यम भवति ये परमात्म तो फल तो ज्ञान का फल यही वास्तव है क्या वास्तव है ब्रह्म रूप स्थिति ब्रह्म रूपेण स्थिति ब्रह्म रूप होकर के परिपूर्ण व्यापक आनंद रूप से रहता है ये फल अवश्यम भवति ज्ञान होने पर परिपूर्ण ब्रह्म रूप से रहता है देह के साथ संबंध नहीं परिपूर्ण शुद्ध ब्रह्म रूप से रहता है परिपूर्ण आनंद रूप से कुछ प्राप्त करने का अप्राप्त नहीं कुछ कर्तव्य नहीं कृतकृत्य होकर के रहता है ये फल है नचेद यह आवेदित इति नहीं यदि जान सका तो नचेद यह जीवन चेद अधिकृत आवेदित न विदितवान जी जीते जी अधिकारी होते समर्थ हुए होते हुए मनुष्य यदि साक्षात्कार नहीं कर पाया तथा महति विनष्टि महति बड़ी विनष्टि दीर्घा अनंता विनष्टि ऐसे हम विनाश है बड़े लंबा है लंबे दीर्घ अनंत अंत नहीं होने वाली चौरासी लाख जाकर फिर भटके क्या विनाशनम विनाशन क्या है जन्म जरा मरणादि प्रबंध अभिषेद लक्षण संसार गति यही है संसार गति अनादि काल से चल रही है बीच में कभी समाप्त हो गई थी क्या अभिषेद अनादि काल से चल रही है अभी फिर ज्ञान नहीं हो पाया मनुष्य न प्राप्त हुआ साधु भी बन गए वेदांत श्रवण कर प्राप्त हो जाता है सब होने के बाद भी यदि नहीं जान सके फिर क्या होगा वो चक्र में फिर चढ़ जाओ घटी चक्र जैसे चक्र घूम रहा है संसार चक्र इतने जोर से घूम रहा है तो उसमें से स्वतंत्र नहीं निकलने के लिए जोर से घूमेगा उसे छलांग लगाए तो क्या होगा चलते हुए गाड़ी से कोई छलांग लगाए तो बच जाएगा हाँ, ऐसे घूमता है ऐसे संसार चक्र अभी वैज्ञानिकों परीक्षा करके कहते अभी हमको लगता है स्थिर बैठे ये पृथ्वी घूमती है मालूम है आपको पृथ्वी 24 घंटा में एक बार बुरा है पृथ्वी का कितने व्यास नहीं परिधि परिमीटर है हैं टोटल 24 घंटा पूरा करना एक घंटा एक घंटा बोलता है इतने उसका परिमीटर सीमा परिधि या डायमीटर हाँ ठीक है तो पूरा तो तो पूरा है कितने चालीस हजार छः सौ चालीस हजार छः सौ किलोमीटर है पृथ्वी का पूरा ये पूरा एक बार घूम जाता है चौबीस घंटा में एक घंटा में एक हजार डेढ़ हजार से डेढ़ हजार से अधिक एक घंटा में डेढ़ हजार से अधिक किलोमीटर डेढ़ हजार से अधिक किलोमीटर एक घंटा में ये जो गाड़ी घूमते कैसे एक घंटा ऐसे घूमते आप बैठे शांत लगता हम बैठे हैं किंतु घूम रहे ये संसार चक्र में भटका हुआ ऐसे घूम रहा है और उसके बाद भी सूर्य के तारे पर तो घूमता है अपने से घूमता है और इसे बहुत दूर घूमता है बहुत यात्रा करने के लिए जाना चाहते देखने के लिए अब देखो सोचा आप कितने दूर घूमते रहते हो सूर्य के चार तरफ एक साल में एक चक्कर लगाते हैं जहाँ वैज्ञानिक लोग अभी तो नहीं वो चक्कर कर लगा सके सूर्य के चार तो घूम करके जहाँ जहाँ पृथ्वी जितने दूर इतने दूर कितने दूर घूमता है और अपने घूमता है रोज प्रति समय सोया हुआ कहाँ जगत समय कहा है घूमता है ऐसे जो ये संसार चक्र में आरूढ़ हो गया उस आरूढ़ होने पर चलेगा और फिर क्या करना होता है खाली बैठ कर जैसे गाड़ी में बैठ कर जाते हैं ऐसे मौज कर बैठ कर जाएगा ऐसा नहीं संसार चक्र में आरूढ़ होगा मतलब क्या है संसार चक्र में जन्म मरण जरा व्याधि जन्म मरण जन्म मरण ये आ जन्म मरण कहते समय बीच में जितने कष्ट सब हुए सुख दुख भोगते भोगते होते जन्म जरा मरण आदि प्रबंध ये प्रबंध नहीं कोई सोचते बहुत आशा है जैसे <laughs> बैठ कर गाड़ी में बैठ के जाते खुश होकर आराम से बैठो गाड़ी चलती है चक्र में बैठ जाओ चक्र घूमता रहेगा हम घूमते रहिए प्लेन में बैठ गया हमें घूमते रहिए ऐसा नहीं वहाँ जाते समय भी बीच में जन्म मरण जरा व्याधि ऐसे लगातार चलता है संसार गति जल्दी तस्माद एवं गुण दोषो विजानंतो ब्राह्मणा ऐसे जान करके संसार में क्या गुण दोष है ज्ञान से क्या लाभ है अज्ञान से क्या हानि है समझ करके ज्ञान से तो मुक्त हो जाता है अज्ञान से ऐसे संसार में चलता है भटकता है जानते हैं ब्राह्मणा जो जिज्ञासु है यहाँ पूर्वम मनुष्य अधिकृत कहा गया ऐसे संपत्ति ब्राह्मण कहते हैं विशेषम ब्रुवन टिप्पणी में दिया तेष वेदन भारम निक्षिपति मैं यहाँ ब्राह्मण कह कर उनको ज्ञान का भार ब्राह्मणेतरोपि संचेत अभिदित धन्यो ब्राह्मण से भिन्न जी जान लेता तो धन्य है नचेन नास्ति बलवती घृणा नहीं तो कोई घृणा नहीं किंतु ब्राह्मणश्चेद अभिदित न तावत बहुमानो ब्राह्मण हो कोई महात्मा सन्यासी होकर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बड़ा काम कर लिया नहीं है वो तो करना ही होए उसको जो अधिकारी नहीं यदि कर लिया तो उस धन्यवाद के पात्र है और जो सन्यास लेकर के ब्राह्मण होकर के अथवा सन्यास लेकर के वेदांत श्रवण करता है उसको तो ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए नहीं कर पाए तो निंदनीय है कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं अर्थात उसको करना ही चाहिए ये कहते टिप्पणी कार न तावद बहुमान ऐसे सन्यासी महात्मा ब्राह्मण होकर के जान लिया तो कोई बड़े बड़े काम नहीं बहुमान नहीं नचेत महति घृणा नहीं तो अत्यंत घृण्य हो जाता है तो अवश्य वेदितव्यम ब्राह्मण है ना ब्राह्मण हो तो अवश्य जानना चाहिए साधु बने तो अवश्य ही साक्षात्कार करना चाहिए इसको जान करके भूतेषु भूतेषु विचित्य भूतेषु भूतेषु कह करके सर्वभूतेषु सारे भूत क्या है स्थावर जंगम स्थावर वृक्ष आदि है जंगम चर पशु पक्षी मनुष्य आदि स्थावरेषु चरेषु च सर्वेषु भूतेषु च एकम आत्मतत्वम ब्रह्म विचित्य एक ही आत्मतत्व सर्वत्र एक अनेक नहीं है सबके देह भिन्न भिन्न होने से हम मानते आत्मा भिन्न भिन्न है देह भिन्न भिन्न है आकाश भी अनेक घड़ा में जल में रखे तो प्रतिम्ब दिखता है घटाकाश मठाकाश कर का आकाश नाम हो जाता है हजारे घड़ में सब का अलग-अलग आकाश है इसी प्रकार देह के भेद से भेद होने पर भी वास्तव भेद नहीं है जिस आकाश का भेद नहीं होता है एक ही आकाश सब के अंदर बाहर है इसी प्रकार आत्म तत्व ब्रह्म एक ही है एकम आत्म तत्वम वही ब्रह्म है जो एक अद्वितीय है सर्वम कलिदम ब्रह्म इदम सर्व ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं उसी को ही कहा भगवान ने वासुदेव सर्वम सर्व को वासुदेव शब्द से एक ही आत्म तत्व उसको आत्मा शब्द से कहो ब्रह्म कहो वासुदेव कहो एक ही तत्व वस्तुतः सारे शब्द शक्ति युक्त नहीं अर्थ को ब्रह्म को कहने के लिए किसी शब्द में सामर्थ्य नहीं है ब्रह्म को कहने के लिए वो कुछ ना कुछ शब्द से कहना पड़ता है अवाच्य होने पर भी उसको किसी शब्द से कहते हैं लक्षणा से कहा जाता है ब्रह्म शब्द की भी लक्षा ब्रह्म शब्द की लक्षणा शुद्ध में माया विशिष्ट चेतन वाच्यार्थ है ईश्वर ब्रह्म शब्द का ईश्वर शब्द का तत्शब्द का वाच्यार्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर लक्षात शुद्ध चेतन वही आत्मा है उसे भिन्न कुछ नहीं ने नाना किंचन ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं ब्रह्मे वेदम आत्मे वेदम बहुत श्रुति है तत्वम से तुम ही ब्रह्म हो सर्वम ब्रह्म वही आत्म तत्व ही ब्रह्म है उसको विचित्य कहते विज्ञाय विज्ञान विशेषण ज्ञान साक्षात्कार थोड़ा सुन लिया मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म ये नहीं साक्षात्कृत हम अस्मि परम ब्रह्म साक्षात्कार तो कोई आपके सामने लड्डू खाया कहता मीठा लगता है आपको ज्ञान हो गया ना मीठा का शब्द से ज्ञान हुआ ना वो खा करके उसको मीठा लगा वो काम बहुत मीठा लगता है और मधुर का ज्ञान आपको हुआ नहीं हुआ शब्द से नहीं होगा शब्द से होता है परोक्ष ज्ञान होता है ये फल खाया कहे ये फलम मधुरम ये मोदकम बहुत मीठा है वो कहा कहने पर आपको ज्ञान ये फल मधुर है अपने नहीं खाया किंतु ये फल मधुर है कोई पूछेगा हम फल कैसा है बहुत मीठा है आपने कहा नहीं मैंने नहीं खाया किंतु उसने खाया बताया मीठा है तो मीठा का ज्ञान हुआ तो दूसरे को आप कह दो खा लो बहुत मीठा है मधुर का ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान हुआ ज्ञान कैसे ज्ञान हुआ <laughs> पर जब तक स्वयं नहीं खाया इससे तृप्त हो गया दूसरे का बहुत ही मीठा है बस अपने खुश हो गए अपने खाने जरूरत है अपने खाने की आवश्यकता कोई बताता है बहुत मीठा है तो तृप्त हो जाएंगे और अपने की आवश्यकता नहीं खाने का जब तक नहीं खाए तो क्या लाभ है सुन लिया तो इसी प्रकार सुन लिया तो तुम ब्रह्म हो समझ जीव ब्रह्म एक है अद्वितीय ब्रह्म है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं हो गया जैसे सुन लिया मीठा है ये फल बहुत मीठा है अपने नहीं खाया इसी प्रकार सब ब्रह्म ही सुन लिया अपने अनुभव नहीं किया मुक्त हो जाएगा पेट भर जाता है सुन सुन कर सब लोग कहें बहुत मीठा बहुत स्वादिष्ट बहुत लोग आए सब लोग के बहुत स्वादिष्ट बहुत अच्छा बहुत आशा सुन लिया और अपने को खाना पड़ेगा ना पेट भर जाएगा तृप्त हो जाएगा इसी प्रकार सुनने से जो ज्ञान होता है वो नहीं साक्षात्कार होना चाहिए विजित विज्ञान विशेष ज्ञान कृतो जब खाएगा मीठा पता चलेगा धीरा धीमंत बुद्धिमान है धीर बुद्धिमान है वही बुद्धिमान है जो संसार प्रवाह में नहीं बह जाते हैं वही अब इंद्रियों को रोक करके कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानम ऐचत आवृत चक्षुर अमृतत्वमिचन वही विवेकी है प्रवाह में बह जाना तो धीर नहीं है बुद्धिमान वही है बुद्धिमान नहीं संसार के प्रवाह में अज्ञान के पीछे दौड़ा सब लोग दौड़ते हैं हम भी दौड़ेंगे ये बुद्धिमता नहीं है सब लोग दौड़ते तो उसकी गति देखो कहाँ दौड़ते क्या ला कहाँ जा रहे हैं आपको क्या प्राप्त करना है विचार नहीं करने पर बहुत लोग भटक जाते हैं सब देखते कहीं महत्व बुद्धि नाम आया टीवी में देखते लोग प्रसिद्ध हो गए तो जहाँ प्रसिद्ध हुआ महत्व बुद्धि हम भी उधर चले कोई तंत्र मंत्र चमत्कार दिखाता है अच्छा हमको इसे मिल जाए चमत्कार हम भी दिखाए क्या होगा फिर चमत्कार दिखा दो धन संपत्ति ख्याति बहुत पूजा हो जाएगी मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा ना मोक्ष मिल जाएगा कुछ नहीं इसलिए कहाँ लोग जा रहे हैं हमको कहाँ जाना ये विचार करना पड़ता है लोग दौड़ कर इधर जा रहे कहीं लोग दौड़ कर रास्ता में चल रहे तो आप उनके पीछे जाते हो या विपरीत दिशा में चलना चाहिए बोलो लोग दौड़ रहे रास्ता में एक तरफ से उधर जा रहे आप उनके पीछे जाओगे या इधर दौड़ोगे हम्म खड़े रहना क्या करना दौड़ना है ना कहां दौड़ना जहां दौड़ते हैं लक्ष्य कहां पता चलेगा एक इधर दौड़ रहे एक इधर दौड़ रहे लक्ष्य को निर्णय करना पड़ेगा हमारा क्या लक्ष्य है हमारा क्या लक्ष्य विचार के चलना पड़ेगा और लोग दौड़ते कर उनके पीछे चलना लोग इधर चलते नहीं लोग इधर चलते हम इधर चलेंगे ऐसा भी नहीं है सब लोग इधर चलते तो हम इधर चलेंगे ये नहीं है और सब लोग इधर चलते हम उनके पीछे दौड़े वो भी नहीं है हां महाजन ये न कतर से बनता महापुरुष ने जिस रास्ता से गए जो रास्ता से वही रास्ता पनता ये शास्त्र में कहा गया महापुरुष यदि गए तो उस रास्ता से चलना और लोग दौड़ते हम भी चलेंगे महापुरुष का अर्थ का मोटा-मोटा होना चाहिए ये नहीं ऐसे महापुरुष जो है जो शास्त्रीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ वो जिस रास्ता से गए उस रास्ते शास्त्र में आया लोक में किसको कल्पना करके एक ज्ञानी सोच करके उसने ऐसा क्या हम करेंगे ऐसा नहीं करना लोक में कोई ज्ञानी है नहीं ज्ञानी कैसा निश्चय होगा शास्त्र में जिस आया शास्त्र में जिस प्रकार महापुरुष मुड़ के आदि थे व्यास सुख गौड़पाद आचार्य आदि वो जिस प्रकार गए जड़ भरत आदि इसी प्रकार रास्ता में चलना है शास्त्र मार्ग पर चल और लोग लक्ष्य को निश्चय के लक्ष्य को चलना नहीं कि लोग दौड़ते तो हम दौड़ेंगे ऐसा नहीं वही धीर होता है धीमंत प्रत्य व्यावृत्य एक प्रत्येगात व्यावृत्य क्या है कि जीते जी अहम मम भाव को छोड़ दिया उसको लिया व्यावृत्य ममा हम भाव लक्षणाद अविद्या रूपाद ये अविद्या का स्वरूप है अहम मम भाव अज्ञान के कारण लोकाद उपरम्य उपरत होकर के सर्वात्मकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना संत अमृत सर्वात्मक सर्वात्म एकत्व एक ही आत्मा अद्वैत को प्राप्त होकर के अमृता भवंती ब्रह्मेव भवंती इत्यर्थ यहाँ पाठ छूटा है अमृता क्या के भवंती ब्रह्मेव भवंती इत्यर्थ बनाया अच्छा यहाँ से संत अमृता भवंती ब्रह्मेव भवंती इत्यर्थ स यो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवती श्रुते तो यहाँ इतने छूटा है अमृता और भवति के बीच में भवंती लिखना भवंती ब्रह्म भवंती तीर्थ सयो हवि तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म इतने लिखना पड़ेगा यदि सुते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो अहम भाव मम भाव को छोड़ देना प्रत्यय कहीं क्या करेगा मृत्यु का कहते तो प्रत्यय होता है तो अहम भाव मम भाव नहीं छोड़ा तो मुक्त नहीं हो सकता है देह में अहम बुद्धि और देह संबंध मम ममाम भाव लक्षण यही अज्ञान का कार्य उससे पृथक हो गया तो मुक्त रत्न हो गया सर्वात्मक अद्वैत ब्रह्म स्वरूप होकर के मुक्त हो जाता है स यो हवि तत्परम ब्रह्म वेद जो भी कोई हो पर ब्रह्म को साक्षात्कार कर ले अहमस्मि में ब्रह्म ब्रह्मैव भवति ब्रह्म ही हो जाता है तो संतो अमृता भवन्ति अमृत हो जाते हैं अमृत हो जाते क्या था ब्रह्मैव भवंती अर्थ ब्रह्म ही हो जाते हैं ज्ञान होने पर ब्रह्म ही हो जाते उसमें श्रुति है मुंडक उपनिषद में स यो ह वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति इति श्रुते यो ह वे श्रुति में क्या जो भी कोई हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब अधिकारी है और ज्ञान का फल भी प्राप्त अवश्य मावी है ज्ञान प्राप्त हो सकता है कोई जरूरी नहीं वेद अध्ययन करने के लिए नियम है कौन अध्ययन करे कौन नहीं करे किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए सबका अधिकार है बृहस्पति सब ब्राह्मण करेगा राजस्व क्षत्रिय करेगा राजस्व ब्राह्मण नहीं कर सकता है बृहस्पति सब क्षत्रिय नहीं कर सकता है किस कर्म करने के लिए कौन अधिकारी कौन अनधिकारी वेद अध्ययन करने के लिए कौन अधिकारी कौन अनधिकारी ये सब विचार है शास्त्र में किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबका अधिकार है तो अपशूद्र अधिकरण ब्रह्म सूत्र में आया जो वेद अध्ययन करने के लिए जिनका अधिकार नहीं उनको स्मृति से भी ज्ञान हो सकता है इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के सब का अधिकार है और ज्ञान हो तो मोक्ष अवश्य भावी यो हवै परम ब्रह्म वेद जो कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है उसका फल ब्रह्मैव भवति उसमें क्या आगे नहीं कि तुम अमुक हो ज्ञान हो तुमको नहीं होगा अथवा ज्ञान होने के बाद फल नहीं मिलेगा ये बात नहीं ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है ब्रह्मे भवति ते श्रुते इति श्री परमहंस परमहंस आचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतो केनोपनिषद पद भाष्य द्वितीय खंड इसका वाक्य भाष्य ओम आप्यायन्तु ममांगा